बस एक मिनट राहुल राहुल बेटे हम्म। अरे उठना बेटे देख कितनी देर से तुझे जगा रही हूँ माँ भी सोने दो ना ओफो बेटे देखो बाहर धूप भी निकल आई उठ शाबाश माँ अभी उठता हूँ बस बस भाई एक मिनट ओफो राहुल पिछले आधे घंटे से मैं यही सुन रही हूँ बस एक मिनट देख बेटा स्कूल के लिए देर हो जाएगी हाँ। तुझे उठ शाबाश उठता हूँ ना माँ मेरा लाल उठ चल जल्दी कर लो उठ गया बस अब खुश चल जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर आ जा नाश्ता बिल्कुल तैयार है अच्छा बेटा तैयार नहीं हुए अभी देखो तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो रहा है आ रहा हूँ माँ बस एक मिनट बस एक मिनट बस एक मिनट आज भी इस एक मिनट के चक्कर में बस निकल जाएगी बेटा अरे घड़ी की ओर तो देखते नहीं तुम समय की कोई कदर ही नहीं से कितना भी समझा लो समझता ही नहीं है क्या करूं मैं इस लड़के लो माँ मैं तैयार होके आ गया अच्छा नाश्ता कर ले चला अरे ये क्या बस का टाइम हो गया माम मैं जा रहा हूँ अरे अरे सुन तो अरे नाश्ता तो करता जा अरे सुन बेटा बे, बेटा ओफो चला गया आज भी बिना खाई चला गया सारा दिन बेचारा भूखा रहेगा अरे कोई भी साथी नजर नहीं आ रहा कहाँ चले गए सब कहीं कहीं बस तो नहीं चली गई कैसे साथी हैं मेरे भी क्या एक मिनट मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे क्या करूं मैं बस चली गई होगी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी अरे हाँ ये सामने वाले चाचा जी से पूछता हूँ हम्म, चाचा जी हम्म? मेरे स्कूल की बस तो नहीं चली गई अरे बेटा बस तो चली गई चली गई सुनो वो तुम्हारा ही नाम राहुल है जी पर हम्म, शायद परसों भी तुम्हारी बस छूट गई थी है ना हाँ। क्या बात है भाई तुम्हें हर काम देर से करने की आदत है जी जी लेकिन आपको ये सब कैसे मालूम अभी थोड़ी देर पहले खड़े तुम्हारे साथ ही तुम्हारी ही बात कर रहे थे उन्हीं की बातों से मालूम हुआ कि तुम्हारा एक मिनट इतना लंबा होता है कि कभी खत्म ही नहीं होता ओफो क्या मुसीबत है आज फिर पैदल ही स्कूल जाना पड़ेगा ओफो आज फिर देर से स्कूल पहुंचूंगा और बच्चों मास्टर जी से डांट भी खानी पड़ेगी मेरा तो मन ही नहीं कर रहा क्या करूं मैं भाई अजीत समीर मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया अरे राहुल कहाँ रह गए थे आने में कितनी देर लगा दी तुमने हम्म तो तुम्हें क्या स्कूल पहुंच तो गया ना अरे भाई बिगड़ते क्यों हो अगर तुम्हें पैदल स्कूल आना पड़ा और तुम थक गए हो तो इसमें दोष तो तुम्हारा ही है ना किसी और का तो नहीं अरे वाह तुम समय से आ हाँ। जाते तो कम से कम स्कूल की बस तो ना छूटती हम्म। हाँ और बस को तो जाना ही था पर सब तुम्हें ढूंढ रहे थे मास्टर जी भी अरे राहुल मास्टर जी तुम पर बहुत गुस्सा हो रहे थे क्यों क्या बात है पता है स्कूल की फुटबॉल टीम चुनी जा रही थी सब बच्चों ने टीम के कप्तान के लिए तुम्हारा ही नाम सुझाया था अरे वाह तुम फुटबॉल अच्छा खेल लेते हो ना <laughs> हाँ, हाँ। इसीलिए सारे बच्चे और मास्टर जी तुम्हें ढूंढ रहे थे तो अब अब क्या हुआ टीम का कप्तान का मेरा मतलब है अब तो मैं आ गया हूँ लेकिन भाई आज भी तुम देर से आए हो इसलिए सुनील को कप्तान चुन लिया गया हम्म। क्या बात कर रहे हो भारत सुनील सुनील को क्यों उसे तो ढंग से खेलना भी नहीं आता पर तुम थे नहीं और कोई चारा भी नहीं था ये तो हद है मास्टर जी का है तुम सब ठहरो मैं मास्टर जी से पूछता हूँ मास्टर जी तो फुटबॉल टीम को लेकर दूसरे स्कूल में मैच खेलने चले गए हम्म। क्या जबरदस्त टीम है उनकी क्या मैच हो रहा होगा कितना मजा आ रहा होगा हे भगवान क्या ये मैच कल नहीं हो सकता था अरे राहुल भूल गए क्या कल हम सब स्कूल की ओर से एक दिन के लिए आगरा जा रहे हैं अरे हाँ और कल समय से रेलवे स्टेशन पहुंच जाना भूलना नहीं कल समय पर आ जाना और एक मिनट को बस एक मिनट में ही खत्म कर लेना हाँ। हाँ। कल सबसे पहले मैं ही आऊंगा हाँ बड़ा घूमेंगे हम कल समय राहुल बेटे राहुल हम्म। उठो ना देखो सवेरा हो गया बेटे देखो आज अपने दोस्तों के साथ तुम्हें आगरा जाना है ना हम्म। उठो बेटे साढ़े नौ तक रेलवे स्टेशन भी पहुंचना है देर कर दी हम्म। तो गाड़ी निकल जाएगी माँ उठता हूँ बस एक मिनट फिर वही एक मिनट मैं तो चलती हूँ चलकर नाश्ता तैयार कर लू हाँ लो माँ मैं उठ गया अरे मेरा सामान तो तैयार है ना आहा खाने का डिब्बा भी जरूर माँ ने कुछ अच्छा सा बनाया होगा मेरे लिए राहुल उठ गए तुम अब घड़ी की ओर भी देख लो जरा अरे बाप रे नौ बज गए माँ साढ़े नौ बजे तो हमारी गाड़ी है ओ भाई जल्दी जल्दी सारे काम करूं हाथ अच्छी तरह धो बेटा हम्म, ये देख साबुन लगा हुआ है <coughs> साफ कर हम्म। ये ये पकड़ तौलिया हम्म, जल्दी हाँ, दो ले ना <coughs> चल ओ गले गले में भी अटक गया मेरे जब देर करेगा तो ऐसे ही होगा क्या करूं भाई उठाया नहीं ना आपने सुबह अच्छा <clears throat> जाने दे कितनी देर से तो उठा रही थी अच्छा लाओ लाओ जल्दी से मेरे कपड़े लाओ अच्छा, वो वहाँ अच्छा। पे पड़े हैं देती हूँ देती हूँ रुक तो सही जल्दी लाओ ना माँ आज फिर नहीं ना पाऊंगा भाई अरे ले ना खैर कोई बात नहीं गाड़ी भी कौन सी एकदम समय पर ही आ जाएगी दस बीस मिनट देर से तो आती ही होगी लो देखो मैं बस एक मिनट में तैयार हो जाता हूँ बस बस मुझे मालूम है तेरा एक मिनट लो माँ मैं तैयार हो गया अच्छा मैं भागता हूँ ठीक है मैं जा रहा हूँ भाई अरे ध्यान से अरे देख के इतनी जल्दी मत कर अरे सुन तो ध्यान रखना अपना अरे भैया जरा सुनना ये ये गाड़ी कहाँ जा रही है मुझे नहीं पता ओ, अब भाई साहब आप जरा सुनना हाँ हाँ बोलिए ये आगरा जाने वाली गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है आ रही है जी <laughs> गाड़ी आ नहीं रही दो नंबर प्लेटफॉर्म से जा रही है क्या वो देखो देखी तुम्हें अरे मगर रोके अरे एक मिनट भाई एक मिनट भाई साहब जरा गाड़ी तो रुको ना अरे रोको रोको भाई, भाई। से इतने शोर में गाड़ी का ड्राइवर तुम्हारी आवाज सुन लेगा ओ ये क्या हो गया उफ ये एक मिनट आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा और एक मिनट को बस एक मिनट में ही खत्म कर दूंगा बस एक मिनट